ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे माताशीरमेनाधीतेन भोगात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि

वह आत्मज्ञान कर्म त्यागी का विषय है मैंने सन्यासी का विषय है अथवा कर्म करने वालों का विषय है कर्मी का विषय भी कर्म त्यागी का विषय है तो पूर्व में ये पूर्व पक्ष ने मान लिया केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है किंतु कि यहां पर कर्म त्यागी के लिए आत्मज्ञान है ऐसा कोई सप्त प्रयोग नहीं है सन्यासी के लिए आत्मज्ञान है ऐसा कोई शब्द प्रयोग है विशेष अश्रवण है श्रवण न होने से माने किसी भी आश्रम में किसी भी आश्रम को केवल आत्मज्ञान हो जाए तो मुक्ति के पात्र बन जाता है मोक्ष उसको मोक्ष मिलेगा और बल प्रत्युत होता क्या है ये जो आत्मज्ञान का विधान आत्मा भाई इदमग्र आशीत आदि वाक्य के द्वारा विधान करना है जिसको परिषद बोलते हैं उसके पूर्व में ऐतरे आरण्य में बहुत सारे कर्मों के प्रकरण आया तो कर्म के प्रकरण के अनंतर कर्म करेगा गृहस्थाश्रम ही करेगा कर्म संबंधी होगा उसके बाद आत्मज्ञान की चर्चा आई है तो इससे सिद्ध होता है कि कर्मी को ही आत्मज्ञान होगा मैंने गृहस्थाश्रमी को ही आत्मज्ञान होगा कर्म त्यागी को नहीं हो सकता ये आदि ने तर्क दिया पूर्व पक्ष ने तर्क दिया यानी इससे होता है संन्यास आश्रम नहीं है गृहस्थाश्रम में ही कर्म करते करते ज्ञान हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा संन्यास आश्रम नहीं है ये पूर्व पक्ष का तर्क है आगे कहते हैं एवं आत्मविद्याम केवलाम कर्म असंबंधी अंगीकृत है पहले पूर्वादि ने स्वीकार किया था केवल आत्म ज्ञान जो है कर्म का संबंध न रखने वाले मोक्ष का साधन है ये स्वीकार किया तस्या अकर्मनिष्ठ तो नहीं उस आत्मविद्या का जो तो अकर्म निष्ठत्व बने कर्म त्यागी सन्यासी ही उसका अधिकारी है इसका खंडन किया अनुग्रस्ताश्रम ही उसका काम करेगा बोला था अब इदानीम अंगीकारम परिणति जो कहा था कि केवल आत्मविद्या मोक्ष का साधन है कहा उसको स्वीकार को खंडन करता है अंगीकार जो किया था स्वीकार किया था उसका परित्याग करता है च कहा कर्म असंबंधी आत्मज्ञान तो होता ही नहीं है कर्म के साथ ही आत्मज्ञान होता ये होते अपक्ष है पूर्वादि बोल रहा है भाष्य में न तो कर्म असंबंधी आत्मविज्ञान आत्मज्ञान कर्म असंबंधी नहीं होता कर्म के संबंधी हो गई आत्मज्ञान होता क्यों या पूर्वापर प्रकरण ऐसा ही है पूर्व में कर्म की चर्चा है उसके बाद आत्मा वही मग्र आशित आदि ज्ञान संबंधी बातें हैं तो पूर्व में जो कर्म कर रहा था अधिकारी वही आत्मज्ञान का अधिकारी होगा तो आत्मसंबंध कर्म असंबंधी आत्मज्ञान है ही नहीं पूर्ववत अंत्य उपसंहारा कहते हैं पूर्व में जैसे अं- उपसंहार किया है यहां भी अंतिम में वैसे उपसंहार किया है इत्यादि कहा था ठीक है मैं देखें पूर्वत्र कर्म संबंध ज्ञान विषय से सर्वात्मक होते हैं हम जिस उपनिषद को पढ़ने जा रहे हैं इसके पूर्व आरण्यक में ऐसा कहा क्योंकि द्वितीय तृतीय अध्याय प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय हो चुका है हम चतुर्थ अध्याय में पढ़ने वाले हैं तो पूर्व में कर्म संबंधी ज्ञान विषय से कर्म संबंधी ज्ञान विषय तो सर्वात्मत्व कर्म संबंधी ज्ञान का विषय को बताया जो कर्म संबंधी ज्ञान है आत्मज्ञान वो सर्वात्म तो बताया पूर्व ये सब ब्रह्म इत्यादि अपराधी यहां भी ये सब ब्रह्म ये सब इंद्र इत्यादि वाक्य आएगा आगे द्वितीय अध्याय में आएगा पंचम आरण्य में आएगा इत्यादि ना अपराधि माने यहां भी उपनिषद में भी सर्वात्मत्व तो उपते है यहां भी सर्वात्मत्व तो बोला है मनुष्य तेरह लिंगे न तो पूर्व में जैसे कहा था कर्म संबंधी को तो कहा था यानी कर्म संबंधी होगा वही हेतु के द्वारा लिंगे न अश्यापी आत्मज्ञान से कर्म संबंधित माना कोई लिंग देंगे सर्वात्मक होने के कारण कर्म संबंधी है पूर्व में जैसे सर्वात्म भाव होने से कर्म संबंधी था तो इस यहां भी वही सिद्ध होगा अनुमान होने से कहा पक्षभाव आत्मज्ञावश्य आत्मज्ञान से न कर्म संबंधित मित्र पक्षमाण जो आगे कहे जाने वाला आत्मा वही मग्र आदि वाक्य के द्वारा सिद्ध करने वाला आत्मज्ञान है वो कर्म असंबंधी नहीं होगा माने कर्म त्यागी के लिए नहीं होगा सन्यासी के लिए नहीं होगा ये पूर्वादि का कहना संग्रह वाक्यम निवृणोती कहा संग्रह वाक्य था पूर्ववत अंत्य उपसंहार ये संग्रह वाक्य है इसी के आगे व्याख्या करते हैं पूर्व में क्या कहा था पादित क्या कहा यथा इत्यादि भाषण यथा कर्म संबंध में सूर्य से सूर्या पुरुष से सूर्यात्मा जो कर्म में संबंध रखने पुरुष को सूर्य के सूर्य के आत्मस्वरूप बताया उसने सूर्यात्मा जो कर्म संबंधी पुरुष को सूर्य भाव में पहुंचा सूर्य सूर्यात्मा हो गया माने से थावर जंगमादि सर्व प्राणात्मा वो पुरुष जो कर्म संबंध रखने वाला पुरुष था सूर्य के साथ अभेद होकर के सूर्यात्मा सूर्यात्मा भाव को प्राप्त होकर स्थावर जन्म संपूर्ण प्राणी के स्वरूप हो गया ऐसा आया है ब्राह्मणे ये ब्राह्मण ने कहा है वहां और मंत्रेण का उसी बात को पूर्व में मंत्र ने भी कहा है सूर्य आत्मा जगत स्तुख से इत्यादि मंत्र है ये पूर्व आरण्य में हुआ द्वितीय अध्याय में हुआ ये बात पूर्व में हुआ इत्यादि तथा यहां भी जब देखेंगे हम आगे यहाँ आरण्य क्रम से पंचम अध्याय का उपनिषद से द्वितीय अध्याय होगा वहां पर कहेंगे ये सब ब्रह्म ये इंद्र यदि उपक्रम यहां इत्यादि उपक्रम यहां से आरम्भ करेंगे यही ब्रह्म है यही इंद्र है जो आत्मा वही वगैरह आशित से आरंभ करके आगे ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र ऐसा रुद्र इत्यादि बोलेंगे क्रम में सर्व प्राणिया ये जो आत्मा वही करके आत्मा शब्द से कहा था उसी को ऐसा शब्द से पर यही आत्मा इंद्र है यही ब्रह्म है सर्व प्राणी रूप बताया आत्मा को यहां भी वैसे बताया सर्व प्राणी रूप बताया कर्मियों को तो सूर्य से अभेद करके दिखाया था और यहाँ ये सब ब्रह्म ऐसे इंद्र करके ऐसे से लेना है आत्मा वही इसमें आया हुआ आत्मा को इसी आत्मा को कहा इत्यादि सर्व प्राणी आत्मा यच्च स्थावर सर्वम तत् प्रज्ञा नेत्रम ये भी कहा था तत्सर्वम प्रज्ञा नेत्र कहा था जन्म स्थागत जितने भी है वो प्रज्ञा नेत्र वाला है प्रज्ञा अधिष्ठान वाला है प्रज्ञा में कल्पित है आत्मा में कल्पित है ऐसा सिद्ध किया है वह उपसंग सिद्ध उपसंगार करेंगे ये कहा टीका से देखेंगे अच्छा। तस्य ये भी इमं लोकम अभ्यर्थत ऐसा आया है माने उस सूर्य के लिए कहा तस्य माने सूर्य से सूर्य को कहा जो सूर्य भाव में प्राप्त हुआ व्यक्ति है उसको कहा ये सर ही यही सूर्य नहीं ही क्या इमम लोकम अभ्यार्थ इस लोक में अनुष्ठित हो गया मैंने इस लोक में चलता है ऐसा है अच्छा। पुरुष रूपेणा या ऐसे या तपति ये सूर्य जो है ये पुरुष माने कर्म करने वाला पुरुष सूर्य जो है उसी रूप से ये तप तपता है सूर्य ऐसे प्रशंसा की पूर्व पुरुष सूर्य ये सतपति इत्यादि ना सूर्यात्मत्व रूपता ये जो कर्म संबंधी पुरुष को सूर्य स्वरूप बताया तस्य सर्वात्मत्व फिर उसी पुरुष को सर्वात्म भाव कहा क्या कहा तस्मात सतर्क सूर्य भाव में होगा तो अनेक उसकी ये हैं ये प्रभाएं हैं किरण हैं वो भी सतर्ची हो गया जो पुरुष ये पुरुष जो कर्म करके सूर्य भाव में प्राप्त हुआ तस्मात सतर्चिना यदि आचक्षित उसको सतर्षी कहते हैं अनेक प्रभाव वाला अनेक किरण वाला कहते हैं ऐसा कहते हैं ये तम एवं संतम यही पुरुष होता हुआ ऐसा कहते हैं उपासक पुरुष को ही ऐसा बताया पूर्व पूर्व में ऐसा कहा इत्यादि ना प्राण ऋच इतम विद्या ये प्राण को ही ऋत को समझे ऋचाओं को प्राण रूप से समझे ऐसा ऋचा ऐसा कहा इति अंत प्राणो वही सर्वाणी भूतानी इति अनैन उत्तम कहा प्राण वही सर्वाभूतानी ऐसा करके ऋग्वेद आदि को भी प्राण रूप में कहा है सब कुछ कहा थावर जन्म सब हो गया ये कहा जगतो जंगम से तस्तुष सूर्य आत्मा जगत खस का मंत्र कर रहे हैं जगत का माने जगत का अर्थ जंगम जो है चलने वाले और सब है थावर जितने भी हैं ये दोनों का सूर्य आत्मा सूर्य आत्मा जगत तस्तुष ये है जगत का अर्थ है चलने वाले और तस्तुखा माने न चलने वाले ये सबका स्वरूप सूर्य ही मैंने सारे सूर्य में कल्पित ही दिखाया पूर्व में ऐसा कहा इधर आता ये मंत्र का अर्थ हुआ था टिप्पणियां थी चार पांच छ चार में कहा पुरुष रूपेण टिप्पणी में कहते हैं पुरुष रूपेण इमम लोकम अध्याचत आगछत इत्यर्थ पुरुष रूप से इस लोक में सूर्य आया ये जो उपासक पुरुष उससे अवैध हुआ है उसी रूप से ये सूर्य श्लोक में आया प्रकाश करने के लिए ऐसा अर्थ ऐसा अर्थ करते हैं कहा पार्वगा तम एकम एकम एवं सूर्यम संतम वो सूर्य एक ही होता हुआ वो सूर्य को क्या बोलते हैं सतम ऋग्वम तरह इतिहास क्षते कहते हैं अन्य ऋचा वाले ऋग्वेदी क्या मानते हैं सतर्षी बोलते हैं उसको ऋग्वम तरह अन्य ऋचा वाले माने ऋग्वेदी जो अन्य ऋग्वेदी हैं उनको वो सूर्य को सतर्षी कहते हैं सौ कहते हैं छेद का आदि कहा हुआ है जगत और जन्म सात्वा मंत्र आदि शब्द ग्राह्य मंत्र शेषम व्याचे जगत मंत्र में जो आदि शब्द दिया हुआ है सूर्य आत्मा इत्यादि ना ऐसा इत्यादि है उस आदि शब्द से आया हुआ मंत्र शेष क्या है जगत स्तस्तु कष्ट सूर्य आत्मा जगत स्तस्तु कष्ट ये बताया अच्छा आगे ठीक है देखें प्रज्ञा नेत्र आया हुआ है यहां भी ऐसे कहा हुआ है जैसे पूर्व में बताया कर्म संबंधी यहां भी वैसे ही आत्मा भी आरंभ करके ये सब ब्रह्म ऐसे इंद्र कहा आगे जा करके तत्सर्वम प्रज्ञा नेत्र जो भी इंद्रादी बोला वो प्रज्ञा नेत्र वाले है माने प्रज्ञा अधिष्ठान है उसकी आत्मा अधिष्ठान है आत्मा में कल्पित है ऐसा दिखाया है ये कहा था प्रज्ञा शब्द तो ब्रह्म नेत्रिकम अधिष्ठान नेता होता है कल्पित वस्तु का अधिष्ठान न हो तो कल्पित वस्तु कुछ कर नहीं सकता वो नेता है उसी के आश्रय से इसको जीवन इसका जीवन होता है कल्पित का इसलिए प्रज्ञा अधिष्ठान है प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म अधिष्ठान है प्रज्ञा शब्द ब्रह्म नेत्रिगम ये कहा प्रज्ञा शब्द जो ब्रह्म नेता वाला ये सारा संपूर्ण संसार है ऐसा कहा प्रज्ञा नेत्र शब्द आता है तत्सर्व प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा नेत्रिक है नेत्र प्रज्ञा अधिष्ठान वाला है उसमें आश्रित होकर के काम कर रहा है हलचल हो रहा है ये कहा कहते से न्याय अश्य कर्म संबंधी आत्म विषय वदन सर्वात्मत्व लिंग से कर्म संबंधी आत्मनियतत्व आह से न्याय तो पूर्वा पर पकड़ लेगा है पूर्व में जो कहा अंतिम में कहा तो बीच वाला भी वही होता है इसको संरक्षण न्याय बोलते हैं शराशी जो होती है ना पतिला पकड़ने के लिए दो होते हैं दो तरह से पकड़ा जाता है तो इधर से उधर से दो पकड़ने से बीच का भी पकड़ा गया पूरा वैसे यहां भी उपक्रम और उपसंहार एक हो जाए तो से न्याय लग जाता है ये संरक्षण आए ये कहा सात की टिप्पणी का संरक्षण में पूर्वोत्तर ग्रंथ समान विषयतया मध्य ग्रंथ से नेतृत्व संरक्षण है यही है पूर्व ग्रंथ उत्तर ग्रंथ के समान रूप से मध्य ग्रंथ को बीच के ग्रंथ को विलय आपको संरक्षण है शुरू में है आखिर में तो बीच वालों को पकड़ना जिससे संरक्षण न्याय कहते हैं ये कहा संरक्षण न्याय ना भी जब पूर्व में कर्म संबंधी कहा हुआ है तो अंतिम में भी तो कर्म संबंधी होगा यही है वहां भी सूर्य को सूर्य रूप पुरुष को सर्वरूप कहा था यहां भी प्रज्ञान को सर्वरूप कहा है प्रज्ञा भाव आने वालों कहा संरक्ष न्याय में भी अश्य आत्मा इस आत्मा को कर्म संबंधी आत्म विषय तुम इस का होगा प्रसंग का अर्थ होगा कर्म संबंधी आत्म विषय होता है पदम सर्वात्मत्व लिंग से कर्म संबंधी आत्मनियत्व लाभ जो सर्वात्मत्व लिंग है आत्मा कर्म संबंधी सर्वात्मत्व यह होगा आत्मा कर्म संबंधी जो आत्मा है कर्म संबंधी है जो विज्ञान होगा आत्म संबंधी विज्ञान कर्म संबंधी होगा क्यों सर्वात्मत्व उसको उसको जानने से सर्वात्म भाव को प्राप्त होता है ये हेतु सर्वात्मत्व हेतु होगा और कर्म संबंधी साध्य होगा आत्म संबंधी विज्ञान जो होगा केवल आत्मज्ञान क्या होगा कर्म संबंधी होगा क्यों सर्वात्मत्व सर्वात्म भाव होने से यह कहा तथा च संगीतोपनिषद ही कहा भाष्य में कहा संगीतोपनिषद में कहा है एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं ये तो अधर आरण्य यम टीका उपनिषद टीकायाम संदर्श उत्तर कहते हैं ये जो संगीतोपनिषद जो आया हुआ है ये तम ही एवं बहुचा महती उगते मीमांस तीन दो तीन मंत्र है ये तृतीय अध्याय द्वितीय खंड का है तो इसमें इसके जो पूर्व में है अधर माने पूर्व इसके पूर्व मंत्र जो होगा ये जो जहां मंत्र आ रहा है ये तम ये वो बहुता महती उक्त इत्यादि मंत्र है इसके पूर्व ऋचा है अधर माने पूर्व ऋचा के टीका में संरक्षण आय कहा यह जो संरक्षण है इस मंत्र के पूर्व मंत्र का टीका का है ये कह रहे हैं संरक्षण हो गया तो एक नंबर टिप्पणी का ये तो अधर आरण्य का था यम उपनिषद टीकायाम इसके पहले वाला जो उपनिषद का मंत्र है ये मंत्र जहां तृतीय अध्याय में आया उसके पहले वाला जो मंत्र होगा उसके टीका में संदर्भ सूत्र बताया अगर थी पूर्व अगर शब्द का तो पूर्व ले पूर्व मंत्र के टीका में संदर्भ न्याय की चर्चा है ये बताया तो परिषद ने कहा एकम ही बहु बहुविचा बहु बहव ऋचो ये शांते जिनका बहुत ऋचा जिनके पास है ऋग्वेदी है बहुत मंत्र जानते हैं उनको बहु ऋचा बोला ये मंत्रवेत्ता का नाम है एतम एव बहुरिचा ही एतम एव ये इसी आत्मा को ही बहुरिचा वाले क्या मानते हैं महती उठे दिमाग संदेह कहते हैं बृहद शास्त्र नाम का उनका एक प्रकरण है उसमें इस आत्मा का विचार करते हैं एतम एवं निमांग संदेह बहुरिचा जो तो ऋग्वेदी लोग बहुरिचा वाले ऋग्वेदी लोग हैं वो लोग इसी आत्मा का विचार करते हैं ये आत्मा क्या चीज है विचार कर ऐसा आया इत्यादि ना कर्म संबंधित हो कर्म के संबंध में मंत्र आया वो वहीं पर बहुरीता वाले मीमांस विचार करते हैं आया तो कर्म संबंधित होगा आगे जाकर के मंत्र आता है उसी प्रकार में क्या आता है सर्वेश भूतेश वेतन एवं प्रमित आचक्षते इसी आत्मा को सभी भूतों में ब्रह्म शब्द से कहते हैं सभी भूतों में रहने वाला आत्मा को ब्रह्म शब्द से इसी को बोलते हैं इसी आत्मा को ब्रह्म शब्द से कहते हैं उसी मंत्र में आगे भाग आया ये भी तीन दो तो तीन है वो भी तीन दो तो तीन है ऐसा यदि उपसंग बहुरीचा वाले ऐसे उपसंहार करते हैं पहले आत्मशब्द से विचार करते आया अब आगे जाके मंत्र में विचार करते पाया सर्वेश भूतेषु एवं ब्रह्म आचक शब्द ऐसा शब्द आया ठीक है तथा संगीतोपनिषद चकार अन्वय तथा च जो मंत्र भाष्य में उसमें चकार को विपरीत क्रम करना तथा संयोग संहितोपनिषदी च ऐसा अन्वय करना उसी प्रकार परिषद में भी ये च का अर्थ भी है ऐसा अर्थ करना बताया महति उठे का अर्थ क्या है एतम वो बहुचा महति उक्थे मीमांसते महति उठे माने महति उठे बृहति सहस्राख्य बृहति सहस्राख्य नाम का मंत्र है महति उठे का अर्थ शस्त्रे शस्त्र माने होता है जो गीति प्रधान न हो मंत्र उसको शस्त्र कहते हैं वेद के मंत्र को शस्त्र शब्द से प्रयोग होता है वेद में शस्त्र का प्रयोग करो आए तो मंत्र का प्रयोग करना है जो गागा करके बोलना नहीं है गद्य में बोलना है जिन मंत्रों को उदगान पूर्वक नहीं बोलना है ऐसे मंत्रों को शस्त्र बोलते हैं शस्त्र शस्त्र माने यहां पर कोई तलवार आदि शस्त्र नहीं मंत्र है कैसा टिप्पणी का शस्त्र गीति रहितम स्त्रोत्रम शस्त्र एक स्त्रोत्र है स्तुति का विषय स्तुति है किंतु जहां उद्गान नहीं होता है अलाभ नहीं होता है गीत रहित जो स्त्रोत्र होता है उसको शस्त्र शब्द से बोलते हैं वेद शस्त्रम वेद का शस्त्र ऐसा शस्त्र है तो <clears throat> टीका में कहा महती उठे माने बृहति सहस्त्राख्य शस्त्र एक बेहती सहस्त्र नाम का स्त्रोत्र है शस्त्र माने स्त्रोत्र है या गीति रहित स्त्रोत्र है उस स्त्रोत्र में कहा स्त्रोत्र है वेद है वो स्त्रोत्र एतम प्रकृतम आत्मान ऋग्वेदिनो विचार है इसी आत्मा को उस स्त्रोत्र में जो बृहति शास्त्र नामक तोत्र है उस स्त्रोत्र में शास्त्र मान तोत्र उस स्त्रोत्र में इसी प्रकृत आत्मा का ही विचार करते हैं मीमांसा में विचार करते हैं ऋग्वेदी लोग विचार करते हैं संगीतोपनिषद ही प्रज्ञात्मा इति उक्त संगीतोपनिषद में प्रज्ञात्मा कहा हुआ है उसी आत्मा को आत्मा हो यो यज्ञ से उल्बणम कहा उल्बणन फल यज्ञ का जो फल ऐसा बताया जिसको आत्मा बताया था संगीतों परिषद में प्रज्ञात्मा युक्त आत्मा हो परिषद में जिसको प्रज्ञात्म शब्द से कहा है उसी आत्मा को यो यज्ञ से उर्वरम पश्चिम का उस आत्मा को जो जानता हो यज्ञ का फल को जो जानता हो यज्ञ करने के बाद आत्मदर्शन होना है यज्ञ से उलबड़न पश्चे ऐसा वाक्य आया जो व्यक्ति जो यजमान एक का उलबल को देखता है फल को देखता है फल आत्मा यह आत्मदर्शन होना है ये कहा इत्यादि वाक्य पर्यालोचन या इत्यादि वाक्य का जो आलोचना करने से कर्म संबंध प्रतिदेव एक कर्म में वो आत्मा को देखने को आया है उलबल माने फल होता है फल आत्मा ही है ऐसा देखा तो इस वाक्य का पर्यालोचन करने से भी कर्म संबंध प्रतिदेव पूर्वादि बोलता है कर्म का ही संबंधी आत्मा है ऐसे दिखता है निर्विशेष आत्मा का ज्ञान नहीं होता ये बोलता है प्रतिज्ञा अशिया भी प्रज्ञात्मक हो गया वहां प्रज्ञात्मक शब्द था बृहति नाम के स्त्रोत्र में ऐसा आया यहां भी प्रज्ञात्मक शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म आएगा यहां भी इसलिए यहां भी वही कर्म संबंधी आत्मा को लेना होगा ये पूर्वादि बोल रहा है संघ ऐसा वहां भी प्रज्ञात्मा कहा था पूर्व में यहां भी उपनिषद में भी प्रज्ञात्मा शब्द आएगा प्रज्ञानम ब्रह्म आएगा यह भी मैंने यहां उपनिषद में भी यही है तो क्या ये कहा प्रतिथे इतर से आती ये इतर जो वाक्य आएगा आध्यात्म गुण से कर्म संबंध अवधान तद ज्ञान से कर्म संबंधी तो इसलिए उसका ज्ञान कर्म संबंधी होगा आत्मज्ञान तथा तस्य इत्यादि वाक्य है भाष्य में तथा तस्व उसी को कहा आगे यो यम अशरीर प्रज्ञात्मा ये पूर्व आरण्य की बात है तृतीय आरण्य की बात है हम तो चतुर्थ आरण्य से आरंभ करेंगे या उपनिषद चतुर्थ से आरंभ होगा ये तृतीय आरंभ बात है वहां मंत्र आया यम अशरीर प्रज्ञात्मा जो अशरीर प्रज्ञात्मा है आत्मा है इत्यादि मंत्र आया यदि उक्तस्य जो प्रज्ञात्मा कहा था जिसको उस मंत्र में उसी को ही यश अश्व आदित्य एकम एवतत् विद्या इति उत्तम जो ये जो प्रज्ञात्मा है और यश अशो आदित्य और जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है हाँ, असो एक ये दोनों एक है ये जो प्रज्ञात्मा है और यश अशो आदित्य एक एकम एवं तत् एक ही है वो दोनों इति विद्या ऐसा जाने ऐसा मंत्र आया वहां पूर्व में यहां भी और यहां भी जब हम देखेंगे अब यहां भी जो प्रज्ञात्मा शब्द आएगा यहां भी उपनिषद में भी यहां भी कोयम आत्मा ये तो गुण है लोग विचार करते हैं आत्मा क्या है इस शरीर में यही यहां विचार आएगा कोयम आत्मा आएगा उपक्रम या प्रज्ञात्मत्व में प्रज्ञात्मा को ही आत्मसिद्ध करना है यहां भी प्रज्ञानम ब्रह्म यही तो मंत्र आएगा अंतिम में स्वयं आत्मा से आरंभ हुआ था तो ढूंढते ढूंढते प्रज्ञान को ब्रह्म रूप से पाते हैं आत्मरूप से पाते हैं प्रज्ञान ब्रह्म यही आता है यहाँ यदि दर्शय यही दिखाएंगे तस्मात न अकर्म संबंधी आत्मज्ञान इसलिए अकर्म संबंधी आत्मज्ञान सन्यासी संबंधी आत्मज्ञान नहीं है कर्म त्यागी संबंधी नहीं है कर्म कर्म के प्रकरण में आत्मज्ञान की चर्चा है ये पूर्वादि का चल रहा है पूर्व से चल रहा है माने कर्म में हाथ रखने वाले जो मीमांसक लोगों की ये प्रसन्न करता है ठीक है अच्छा तथा संकाम उपसंग है यही तो है अच्छा। संकाम उपसंगार भी जो शंका पूर्वादि के उसको उपसंगात करता है क्या है तस्मात न कर्म संबंधी आत्मज्ञान अकर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं कर्म संबंधी है ऐसा कहा आगे सिद्धांति की ओर से बोलेंगे यदि भाई पूर्व प्रकरण में ब्राह्मण ग्रंथ में आरण्य के पूर्व में यदि कर्म संबंधी बताया हो यहां भी कर्म संबंधी कहना हो तो, तो पुनरुक्ति दोष होगी दोष होगा ये बताया हुआ को बताना पिष्ट पेशा पिसा हुआ को पीसना पुनरुक्ति दोष तो वो कहेगा पुनरुक्ति दोष नहीं या कुछ विशेष विधान के लिए सिद्धांत की ओर से कुछ शंका उठा करके पूर्वपक्षी स्वयं उठाता है स्वयं खनन करता है ठीक है शंकावादी है वह शंकावादी पूर्ववादी है शंकावादी है सिद्धांति आशंका आशंका जो शंकावादी पूर्वादी है पूर्वपक्ष है मीमांस वह सिद्धांत की आशंका को शंका उठाता है आप ऐसा कहोगे तो यहाँ ऐसा नहीं होगा विशेष विधान के लिए है ऐसा बोलेगा पूर्वादी पूर्व पक्ष भाष्य चलेगा पूर्वादी सिद्धांत की शंका को उठा करके खंडन करता है सिद्धांत की शंका है पुनरुक्तिया अनर्थ से पूर्व में भी यदि कर्म संबंधी आत्मा को बताया हो और यहाँ उपनिषद में भी कर्म संबंधी आत्मा को बताना हो तब तो पुनरुक्ति होगी पहले बोल दिया फिर क्या बताना आप पुनरुक्ति दोष सिद्धांत की ओर से कहे एक संग्रह वाक्य इसी को आगे व्याख्या है संग्रह प्राण वा अहम अस्पृश्य पूर्व में आया ऋषे मैं प्राण हूं मैंने प्राणोपासक है हिरण्य गमन के उपासक है वो बोलता मैं प्राण हूं समष्टि भाव में हो प्राणो वही अहम अस्पृश्य इत्यादि ना ब्राह्मण है ना जो ब्राह्मण भाव है पूर्व में उसके द्वारा कहा उसी को सूर्य आत्मा इति मंत्र और तो सूर्य आत्मा तस्तु का एक बताया है तो ये मंत्र ने कहा पूर्व मंत्र निर्धारित से आत्मा उसी निर्धारण हुआ जो आत्मा है एकत्र तो निर्धारण हुआ आत्मा आत्मा अब आगे जो आत्मा भाई इदमग्र इत्यादि वाक्य के द्वारा भी उसी का निर्धारण यदि करना हो तो मृदुप तो दोष होगा यही सिद्धांत का कहना है आत्मा भाई इदम इत्यादि ब्राह्मणे न आगे जो ब्राह्मण आएगा इसके द्वारा कोयम आत्मा यदि प्रश्न पूर्वकम पुनर्निर्धारण दोबारा निर्धारण करना पहले जो निर्धारण हुआ है उसको दोबारा निर्धारण करना पुनर् अनर्थकम यह सिद्धांत की ओर से शंका उठाई जाए कर्म संबंधी माने पर एक बार निर्धारण हो चुका है जिससे उसको फिर दोबारा निर्धारण करना पुनरुक्त दोष होगा ऐसा यदि सिद्धांत कहे तो पूर्वाधि पर दोष नहीं है ना ये पूर्व पक्ष का ही न कहा न क्यों तस्व धर्मांतर विशेष निर्धारण जो कर्म संबंधी आत्मा की चर्चा पहले विशेष रूप से चर्चा की गई थी उसी को विशेष धर्म लगा करके यहां अर्थ कर रहा है इसके लिए तस्य ही वह आत्मा जो कर्म संबंधी आत्मा है उसी को ही धर्मांतर विशेष निर्धारण धर्मांतर विशेष का निर्धारण करना है इसमें अन्य धर्म भी है क्या क्या धर्म है इस आत्मा में ये दिखाना है आगे इसके लिए आगे का प्रसंग है धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थत्व न पुनरुत्ता दोष है इसलिए पुनरुत्ति दोष नहीं पहले जिसको कहा था सामान्य रूप से कहा था आप विशेष से कहेंगे विशेष धर्म लगाकर बोलेंगे इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं ये पूर्वादि कहा तो सिद्धांत की ओर से पूछा जाए कथन कैसे दोष नहीं है यह कथन प्रश्न सिद्धांत का पूर्वादि बोलेगा तस्व वही जो आत्मा है पूर्व में जिसका अंतर्धारण हो चुका है प्राणो वही हम स्मृष्य इत्यादि सूर्य आत्मा जगत सुख सर्वात्मा भाव को बताया हुआ है उसी आत्मा को ही कर्म संबंधी हो जो कर्म प्रकरण में आया है प्राण वे अहम अस्मृ से सूर्य आत्मा जगत सुगत कर्म प्रकरण का आत्मा है वो तसे जो कर्म संबंधी हो कर्म संबंधी आत्मा का या विशेष धर्म लगाना है क्या जगत सृष्टि स्थिति संहारादि धर्म विशेष निर्धारण अर्थात वह आत्मा में ऐसी शक्ति है जगत को उत्पन्न करने की पालन करने की नाश करने की शक्ति है ऐसे धर्म विशेष जोड़ने के लिए यहां फिर दोबारा बताया आत्मा वे इतमग्र आशित आदि वाक्य के द्वारा इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है उसी आत्मा का जो प्राण वे अहम जिसे आदि ब्राह्मण ने कहा था उसी को यहाँ बोलने जा रहा उपनिषद भाव वही बोलता है धर्मांतर विशेष वही सृष्टि स्थिति लय वही करेगा उसकी शक्ति ऐसी है बताने के लिए कहा तस्व उसी आत्मा को कर्म संबंधी जो आत्मा है उसी को ही जगत सृष्टि स्थिति जगत सृष्टि स्थिति संहार आदि धर्म विशेष निर्धारण जगत की सृष्टि स्थिति संहार आदि जो धर्म विशेष का निर्धारण करने के लिए है केवल उपास्य अर्थत्व अथवा ये भी होता है आगे का जो प्रकरण आ रहा है आत्मा वैध मग्र आशित आदि वहां पहले कर्म कांड में कर्म के साथ तो साथ साथ तो उपासना की गई आत्मा की कर्म विशिष्ट उपासना समुच्चयवादी हुआ था केवल आत्मा की उपासना बताया नहीं था इसलिए आगे का प्रकरण जो है अथवा या तो जगत सृष्टि स्थिति लय दिखाने के लिए है वो आत्मा जो पूर्व कथित आत्मा ये शक्ति है जगत की सृष्टि करने की पालन करने की रक्षा में संधार करने की ये बताना है आगे के वाक्य के द्वारा या तो फिर केवल उसकी उपासना के लिए कर्म रहित केवल उपासना करना है पूर्व प्रकरण में कर्म सहित उपासना या अभी कर्म रहित केवल उपासना तत्व केवल उपास अर्थ के लिए है केवल उपासना के लिए आत्मा को आगे बताएंगे आत्मा वैध मग्र आशीद आदि वाक्य इसके लिए अथवा यही उपास्य तत्वभाव का अर्थ करते हैं अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मा वही मग्र आशीद आदि मंत्र आएगा आगे ये जो आगे का ग्रंथ प्रकरण है आत्मा कर्म आत्मा जो कर्मी आत्मा है कर्म करने वाला आत्मा है आत्मा कर्म कर्म अन्यत्र उपासना अप्राप्त हो कर्म में तो उपासना है कर्म को छोड़ करके अन्यत्र उपासना की प्राप्ति नहीं हो रही थी आत्मा की कर्मी आत्मा का कर्म करते समय उपासना है बाकी केवल आत्मा की उपासना की प्राप्ति नहीं थी पूर्व प्रकरण है इसलिए अप्राप्त हो कर्म प्रस्ताव अभिहितत्वा ये कर्म प्रस्ताव में केवल उपासना का विधान नहीं है कर्म सहित उपासना है या कर्म का चर्चा है या कर्म सहित उपासना का है केवल उपासना के विधान नहीं है कर्म प्रस्ताव अभी तत्व उपास माने उपासना है अभिहितत्व उपासना विधान न होने से केवल भी आत्मा उपास्य इतम आत्मा केवल आत्मा उपास्य केवल भी आत्मा उपास्य होता है केवल मात्र आत्मा उपास्य होता है कर्म किए बिना भी आत्मा उपास्य होता है ये बताने के लिए आगे का प्रकरण अथवा भेदा भेद उपास्यवाद अतः भेद रूप से उपासना अभेद रूप से उपासना आत्मा के दो भाग दो रूप से उपासना के लिए है कर्म करते समय भेद रूप से और उपासना करते समय अभेद रूप से अहंग्र उपासना जब सुहा स्वदा आदि करेगा उसमें भेद रूप से उपासना और जब अहंग्र उपासना में लग जाएगा कर्म छोड़ करके केवल उपासना करेगा अभेद रूप से उपासना भेदा भेद उपास्यत्वाला एक एवं आत्मा कर्म विषय भेद दृष्टि एक ही आत्मा है किंतु कर्म के विषय में भेद दृष्टि वाला हो जाता है इदम तेन होगा आत्मा का उपासना और सैव अकर्म काल है जब कर्म नहीं करता जिस काल में तो चिंतन में बैठेगा तो अभेदेन उपास्य अभेद रूप से उपास्य अहम तेन उपास्य होगा कर्म करते समय इदम तो न होगा और कर्म नहीं करता है तो अभेद अहम का उपासना करेगा अभेदेन होगा भेदाभेद दृष्टि दोनों दृष्टि से आत्मा की उपासना करने के लिए है आगे का प्रयोग इतम अपनरुक्ता इस तरह से व्याख्या करने पर पुनरुक्त दोष नहीं ये पूर्वाग ने कहा ठीक से संग्रह वाक्यम विवृणती ही पुनरुक्तिया अनर्थक्यम चेत यह था यह संग्रह वाक्य था सिद्धांत की ओर से शंका थी अगर पूर्व में कथित आत्मा को ही दोबारा कथन कर रहा है तो पुनरुक्ति दोष है ये कहा इसी के बारे में व्याख्या प्राणो वही इत्यादि कहा वही अहमर सिजे इत्यादि ब्राह्मण न आत्मा इति मंत्र से दो है ब्राह्मण ने भी कहा मंत्र ने भी कहा निर्धारित से आत्मा का निर्धारण हुआ जो आत्मा उसका आत्मा वही इदम इत्यादि ब्राह्मण ने कोयम आत्मा यदि प्रश्न पूर्वक पुनर्निर्धारण पुनर् पुनर्अनर्थकम सिद्धांत ये शंका करेंगे उसको फिर आत्मा वही इदम इत्यादि वाक्य के द्वारा और ये ब्राह्मण थे और कोयम आत्मा यहां से आरंभ करके निर्धारण किया प्रज्ञात्मा प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि किया ऐसे आत्मा को दोबारा कहना पुनरुक्ति दोष हो ये शंका उठाई सिद्धांत ने तो पूर्वाजी बोलता है आगे पूर्वोत्तर ब्राह्मण और एकार्थत्व बक्षमाण अपनी प्राणात्म विषय क्या तत्व निर्धारित मुझे पुनरुत्तम करता है सिद्धांत कहते हैं पूर्व ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण जो उपनिषद भाग है पूर्व ब्राह्मण जो पहले के ब्राह्मण है प्राणो वही अहम अस्पृश्य इत्यादि ब्राह्मण ये दोनों ब्राह्मणों का एक ही अर्थ करेंगे यदि तो मान कर्म संबंधी आत्मा अर्थ करेंगे तो क्या होगा बक्षमाणों की प्राणांत तो विषम या आगे वाला भी प्राणांत तो विषय होगा निरीक्षेष आत्म विषय नहीं होगा तत्व निर्धारित प्राणात्म विषय तो पूर्व में निर्धारित हो चुका है प्राण वही अहम अस्थि विशेष निर्धारण हो चुका है इसलिए पुनरुक्तम ये पुनरुक्त दोष है ऐसा सिद्धांत पर शंका उठाए तो पूर्वादि कहेगा सएव आसंताम पर सएव पूर्व पक्षी एवं जो पूर्व पक्षी है वही सिद्धांत की शंका को उठाई वही शंका का खंडन भी करता है चाहे वह पूर्वादी एवं संग्राम आसंगाम परिहरती न कहा पूर्वादी का न तस्व धर्मांतर विशेष निर्धारण न पुनर्पिता दोष ये उसी आत्मा का पूर्व में जो ब्राह्मण ने कहा था प्राण वही अहम शिष्य इत्यादि वाक्य से कहा था या आत्मा वही इत्यादि से उसी का निर्धारण करा क्यों विशेष धर्म लगाकर निर्धारण करना पहले नहीं बताया था जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाला केवल आत्मा उपास्य है भेदाभेद दृष्टि से उपास्य होता है ये सब नहीं कहा था पहले तो विशेष धर्म लगाना है इसके लिए है तमेव प्रश्न पूर्वक विषय नहीं कहा वो धर्मांतर विशेष को ही दिखाते हैं कथम प्रश्न है प्रश्न पूर्वक विवृति व्याख्या करता है तमेव तीन नंबर धर्मांतर विशेषम एवं धर्मांतर विशेष को ही व्याख्या है क्या धर्म है प्रथम ये प्रश्न उठाया उसका व्याख्या की तस्व कर्म संबंधी वो जो कर्म संबंधी आत्मा है उसमें तीन धर्म दिखाना है जगत की सृष्टि स्थिति संहार कर्तृत्व धर्म दिखाना है इस रूप से आगे उपासना करनी है पहले तो प्राणो हम इत्यादि उपासना थी अभी जगत की सृष्टि करने वाला मैं हूं स्थिति रक्षा करने वाला मैं हूं संहार करता भी मैं हूं अवैध हुआ है सर्वात्म भाव में है ऐसे धर्म विशेष लगाकर उपासना करते हैं इसके लिए ठीक है जगत की सृष्टि यहां चर्चा है आत्मा की सहीमान लोकान असृजता वाक्य आएगा आत्मा वैदमर्जा आश्रित अगले मंत्र यह आएगा सहीमान लोकान असृजता जगत की सृष्टि वाक्य है इत्यादि श्रवणा ये ये जगत की सृष्टि स्थिति आदि की वाक्य है यहां और लय तो है ये सबके सब का सर्व प्रज्ञा ने ब्रह्म उसी में लय हो जाना दिखाया ही है प्रकारांतरण प्रोक्तिम करेगी प्रकारांतर अन्य प्रकार से भी पुनरुक्ति दोष का परिहार एक तो हो गया जगत की सृष्टि स्थिति लय रूप से उपासना करना दूसरा है केवल उपासना एक प्रकारांतर है केवल उपास उपास अर्थत्वाद ये कहा था ठीक है एतम परिहारम बा शब्दार्थम पतन प्रयोग ये जो परिहार है खंडन है उपासना केवल उपासना के लिए या बा शब्द के अर्थ व्याख्या करते व्याख्या देते हैं विस्तार करते हैं कहा क्या अथवा बा का अर्थ अथवा फिर व्याख्या की इसकी इसी तरह यहाँ व्याख्या है आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मा भाई इधम अग्रे आशित इत्यादि जो ग्रंथ आने वाले हैं वह आत्मा कर्मिणा आत्मा जो कर्मी आत्मा है कर्मिणा आत्मा माने कर्मिणो यजमान से कर्तरी ष्टी नव जंतु शेष है कर्मिणो यजमान ये कर्ता में ष्टी नहीं है कर्म करने वाला यजमान कर्मिणा माने यजमान से ये जो ष्ठी विभक्ति कर्ता में ष्ठी नहीं है कर्तिकर्मण कृति सूत्र है जब कृदंत का युग बन जाए तो कर्ता में कर्म में ष्ठी विभक्ति होती है किंतु उभय प्राप्त हो कर्म ही जब कर्ता कर्म दोनों में प्राप्त होगा कर्ता में नहीं कर्म में ष्ठी हो जाती है किंतु यह कर्तव्य ष्ठी नहीं है कहते हैं यह आत्मरो आया हुआ है यहां पर इसके अर्थ कर रहे हैं कर्मिणा आत्मा कर्मिणा ष्ठी है भाष्य में वो ष्ठी कर्तरी ष्ठी नहीं है ये कहा न किंतु शेष एवं ष्टी शेष शेष ष्टी सूत्र से षष्टी सामान्य संबंध मात्र को लेकर के ष्टी है कर्तरी ष्टी में संबंधा कहा किंतु शेष की कर्मणि कर्म ष्टी प्रयोगा कर्म ष्टी का प्रयोग होने से उभय प्राप्त हो कर्मणी से नियम जब कर्ता कर्म दोनों में प्राप्त हो तो कर्म में ष्टी होती है कर्ता में नहीं होता ये बताया है ये व्याकरण का अर्थ कर दिया टिप्पणी तो भाष्य में कहा था अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मा कर्मिणा जो कर्मी आत्मा है कर्म करने वाला आत्मा उसका कर्मणो अन्यत्र उपासना अप्राप्त हो कर्म काल से अन्यत्र का अन्य काल में उपासना की प्राप्ति नहीं उसके पास इसलिए कर्म प्रस्ताव तत्व कर्म प्रस्ताव में केवल आत्मा की उपासना नहीं बताई गई इसलिए केवल आत्मा उपास्य केवल आत्मा भी उपास्य होता है इसलिए आत्मा भाई इधम अग्रे आशित इत्यादि आगे का मंत्र वाक्य है ये कहा ठीक है उनका कर्मणो अन्यत्र माने कर्मांगत्व तदंग उक्त अधिकरणत्व बिना कर्मणो अन्यत्र का अर्थ कर्मांगत्व बनाए बिना कर्म के अंग बनाए बिना आत्मा को उपासना प्राप्त नहीं होगा कर्म का अंग में तो उपासना होगा कर्म का अंग मान करके करेंगे किंतु अन्यत्र नहीं कर्मांगत्व अथवा तदंग उक्तादि अधिकरण अथवा कर्म का अंग उक्त है प्राण विज्ञान अंग्रोपासना आदि जो प्राण विज्ञान होगा उसका अधिकरण बना के बिना ये दोनों बनाने से तो हो जाता था किंतु कर्म के अंग बनाए बिना अथवा उसका कर्मांग कर्म का अंग अथवा कर्म का अंग का उपथादि अधिकरण बना अधिकरण वक्त बनाए बिना उपासना नहीं हो पा रहे थे आत्मा की इसमें अप्राप्त इच्छेद अप्राप्त हेतु कर्म प्रस्ताव में अभिज्ञता कर्म के प्रस्ताव में केवल उपासना का विधान नहीं है ये बताया अविदत्वाद इति छेद उत्तरत हेतु अभिधत्वाद है आगे के लिए हेतु है अच्छा, न तो एवं स्वस्थ कर्म संबंधित तो नियम त्यागापति सिद्धांत गौर से बोले फिर कर्म संबंधित तो नहीं रहा आपकी आत्मा केवल उपास्य होगा तो कर्म संबंधी नहीं बनेगा आप तो कर्म संबंधी आत्मा बता रहे थे आपने जो स्व उक्त पूर्व पक्ष ने जो कहा था कर्म संबंधी आत्मा तो केवल उपास्य होगा तो कर्म संबंधी नहीं बनेगा ये सिद्धांत गौर से गए तो खमन करता है न तो एवं स्वप्त कर्म संबंधित नियम त्यागापत्ति न अपने द्वारा कहा गया जो कर्म संबंधित तो नहीं रहेगा केवल उपास्य होगा तो ऐसे सिद्धांत बोले तो ना वो भी रहेगा कर्म संबंधित तो रहता है कैसे रहता है कर्मानुष्ठितत्व तो मात्र से त्यागे भी कर्म के अंदर अंग रूप से आश्रित होना था आत्मा को उतना अंश त्याग होने पर भी कर्मांग आश्रितत्व मात्र का त्याग होने पर भी कर्म संबंधित सविशेष विषय को लक्षण कर्म संबंधित का अर्थ सविशेष विषय होता है वो तो है उपासना का विषय बना हुआ है सविशेष विषय है कर्म समुचित करते अर्थ यही होता है कर्म समुचित सविशेष विषय तो लक्षण से कर्म समुचित तो लक्षण से बात अथवा कर्म समुचित तो कर्म समुचित उपासना यह है अत्यागा त्याग नामा से अंगीकार वादे न अश्य पक्ष से उत्ते केवल बोल दिया ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं होता अंगीकार वाद स्वीकार वाद के द्वारा इस पक्ष कहने से अश्विन पक्षे कर्म यह नियत चला इस पक्ष में भी कर्म निष्ठत्व तो रहे कर्म निष्ठत्व तो ही रहेगा उपासना कर्म निष्ठा भी होगा ये पूर्वाग टिप्पणी है दो नंबर की दो में कहते कर्म कर्म समुचित तत्व कर्मिणा उगते तो कर्म सामानाधिकरण अंगीकारा निभाव कर्मिणा का अनुपर कर्म के सामानाधिकरण जो होगा कर्म का अधिकरण उसी को उपासना करना है कर्म समानाधिकरण जहां कर्म हो रहा है वह उपासना होनी है ये स्वीकार किया आगे ठीक हमें कहते हैं अत्र पक्ष विशेषांतर भाग इसी पक्ष में केवल उपासना पक्ष में और विशेष है भेदा भेद दो दृष्टि से उपासना हो सकती है आत्मा की कर्म करते समय भेद दृष्टि से और कर्म के अभाव काल में अभेद दृष्टि से अहंग्र उपासना भेदाभेद दृष्टि भेद भेदाभेद उपास्य एक आत्मा कर्म विषय भेद दृष्टिवाद सएव अकर्म काले अभेदेन उपास्य अपरोधा दो रूप से उपासना हो सकती है आत्मा की कर्म विषय भेद दृष्टि से और कर्म के अभाव काल में अवैध दृष्टि से कैसे टिप्पण में कहते हैं इदम तया उपास्य कर्म करते समय इदम इदम रूप से आत्मा को और अवैध काल में अहम तया अहम पर उपासना कर्म के अभाव काल में अहम तो है और कर्म करते समय इदम तो है दो रूप से उपासना होगी ठीक आधार आत्मा भाई इदम इत्यादि सर्क पक्ष से स्वपक्ष अर्थवत्व होता है पूर्वादी बोलता है आत्मा भाई इत्यादि वाक्य का इसने छह अर्थ बताया छह अर्थ बताया विशेष धर्म होता है छह सृष्टि स्थिति का यह तीन अर्थ बताया तो विशेष धर्म देने के लिए आगे का वाक्य बताया और केवल उपासना चार हो गया और भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि छह हो गया आत्मा वही इदम इत्यादि सर्कस आत्मा वही इदम इत्यादि वाक्य लेकर के छह जो बोला पूर्वादि ने जगत सृष्टि स्थिति लय तीन धर्म बताया और केवल उपासना चार हो गया और भेद दृष्टि अभेद दृष्टि लेकर के छह हो गया छह वाक्य छह धर्म छह पक्ष अर्थवत छह धर्म का अपने पक्ष में अर्थवत्व सिद्ध किया पूर्वादि छह का समुदाय जो है अपने पक्ष में अर्थवान दिखाया केवल आगे के क्रम से ये छह प्रकार से उपासना करने के लिए ये बताया आत्मा व इत्यादि सड़क पक्ष सड़क जो छह पक्ष हैं स्वपक्ष अर्थवत्व होगा तस् कर्म त्यागे न आत्मज्ञानार्थत्व पक्ष है जो सिद्धांति का पक्ष है कर्म त्याग रूप से आत्मज्ञान होगा कर्म असंबंधी आत्मज्ञान उस पक्ष में बहुश्रुति विरोध हाँ, सिद्धांति के पक्ष में बहुश्रुति विरोध है कर्म त्याग करके आत्मज्ञान होना संभव नहीं है कर्म त्याग करके आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता कभी भी आत्मज्ञान होगा गृहस्थाश्रम में होगा सन्यासी को नहीं हो सकता तो कर्म त्याग कर ही नहीं सकता है जीवन में परिस्थिति ऐसी श्रुति ऐसी स्थितियां हैं जब कर्म त्याग कर नहीं सकता तो गृहस्थाश्रम में रहेगा वो ज्ञान होगा तो वही होगा कर्म त्याग कर ही नहीं सकता कर्म संबंधी आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है ये पूर्वादी अपना सिद्ध करने के लिए सिद्धांति को दोष देना चाहता है माने कर्म असंबंधी आत्मज्ञान होता ही नहीं है अब ये कर्म संबंधी आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन मान बैठे हैं मैंने संन्यास संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान तो कर्म संन्यास पूर्व वो हो ही नहीं सकता ये दिखाता आगे ये कहा आत्मा वही इदम इत्यादि कश्य जो छह पक्ष बताया पूर्वादि ने सृष्टि स्थिति लय विशेष धर्म तीन धर्म हो गए एक केवल उपासना चार और भेद दृष्टि अभेद दृष्टि छह ये छह धर्म का बता करके स्वपक्ष अर्थ अपने पक्ष में अर्थवान बताया अर्थशाली दिखाया पूर्वादि तस्य उसी आत्मा व इत्यादि वाक्य का कर्म त्यागे न आत्मज्ञानार्थ तो पक्ष अब जो कर्म त्याग पूर्वक माने कर्म असंबंधी आत्मज्ञान पक्ष में मैंने सिद्धांत पक्ष में बहुत श्रुति विरोध बहुत सारे श्रुति का विरोध है हाँ, कर्म त्याग पूर्वक आत्मज्ञान संभव नहीं है कर्म त्याग हो ही नहीं सकता जीवन भर ऐसे तो विद्याम च अविद्याम च यस्त भयम सह अविद्या विद्या वृतम इस आवश्यक परिषद में कहा है हाँ कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ जो चलता है विद्याम से अविद्याम से विद्या माने ज्ञान अविद्या माने कर्म पूर्व पक्ष का धर्म है विद्याम च अविद्याम च यस्त उभयम सह वेद दोनों को साथ साथ जानता है मान अनुष्ठान करता है वेद मैंने अनुतिष्ठ अनुष्ठान करता है मैंने कर्म ज्ञान साथ साथ करता है जो कर्म होगा गृहस्थाश्रम में तो कर्म संबंधी ज्ञान होगा वो यद उभयम सह वेद दोनों के दोनों साथ साथ अनुष्ठान करता है वेद मान जानता है नहीं साथ साथ करता है अनुष्ठान करता है अविद्या मृत्यु तीर्थ अवस्थित में क्या होगा कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करके हम्म। जो स्वाभाविक कर्म होने के द्वारा मृत्यु था वो पार करेगा स्वाभाविक कर्म होने नहीं देगा अविद्या के द्वारा मैंने कर्म वैदिक कर्म करता रहेगा स्वाभाविक कर्म नहीं होगा वही वृत्ति को उसको पार करके विद्या या अमृतम हो जाए ज्ञान के द्वारा अमृत की प्राप्ति करता है मंत्र बोल रहा है ईशावासी बच्चा तो कर्म ज्ञान का समुचय दिखाया है कहां हो सकता है गृहस्थाश्रम में जो संन्यास आश्रम में कर्म नहीं हो सकता ये और दूसरा कहा है कुरबन्य वे कर्माणी जितने से सतम समा सौ साल समा माने संवत्सर जो सौ साल की आयु है कर्म करते हुए जीवन यापन कर जा है तो कर्म त्यागने का अवसर ही नहीं है तो कर्म असंबंधी आत्मज्ञान कहां से होगा कर्म त्याग पूर्वक आत्मज्ञान होने के प्रसंग ही नहीं आता जब तक जीवन है कर्म करना है तो आत्मज्ञान उसी में होना है मतलब गृहस्थाश्रम में होना है कर्म कहां होता है गृहस्थ आश्रम में होता है पूर्वादी श्रुति का उत्तर उदाहरण दे रहा है कुर्बान ने वह कर्माणी तिजय सतम समा कहा सतम सौ वर्ष समा मान संभत्तर सौ संभत्तर जो है सौ साल की आयु है कर्म करते हुए रहना है तो आगे ज्ञान होने का प्रसंग है ही नहीं कर्म के साथ ही ज्ञान होना है वो तो गृहस्थ आश्रम में होगा और भी बात है इति बाजी नाम माने ये बाज से नहीं शाखा है और न तो वर्ष शतात परम आयुर्मत्या नाम इन मनुष्यों की सौ साल से अधिक आयु तो है ही नहीं जो कि सौ साल तक कर्म करे उसके बाद में फिर कर्म त्याग पूर्वक ज्ञानार्जन करे उनके लिए समय कहाँ है सौ वर्ष की जो आयु है कर्म से युक्त है कर्म करना है तो ज्ञान उसी काल में आर्जन करना आगे ज्ञान आर्जन करने का समय है ही नहीं सौ वर्ष व्यतीत होने के बाद में आयु समाप्त हो गए कहा ज्ञान आर्जन करेगा इसलिए कर्म असंबंधी ज्ञान की चर्चा हो नहीं सकती है इससे मतलब संन्यास आश्रम है ही नहीं ये सिद्ध होता है ये पूर्वाधि कहता है न तो वर्ष शतार परम आयु मर्त्याम सौ साल से अधिक आयु तो है ही नहीं मर्त्यों का मनुष्यों का ये ना कर्म परित्याग है ना आत्मा उपासना जिससे कि कर्म का परित्याग करके आत्मा की उपासना करे आत्मचिंतन कर सके सौ साल के बाद ऐसा है ही नहीं सौ साल के आगे आयु नहीं है जिससे कि वो कर्म का सौ साल में कर्म का परित्याग कर दिया सौ साल तक कर्म करना था पूर्व ने कर्माणी जिन सौ साल बिताया उसके बाद में आत्मज्ञान कर्म त्याग करके आत्मज्ञान का आर्जन करके आयु है ही नहीं ये, बात दर्शितम च ये दिखाया भी है तावंती पुरुषायुषो अन्नाम सहस्त्राणी भवंती ऐसा आया बृहति सहस्त्राख्य नाम के जो मंत्र है ऋग्वेद में छत्तीस अक्षर है वो छत्तीस अक्षर को छत्तीस हजार माना है तो सौ वर्ष की जो हमारी आयु होती है छत्तीस हजार दिन के होते हैं तावंती पुरुषो अन्नानी आयु ऐसा कहा जितने वो जो बृहति सहस्त्र में मंत्र में अक्षर होते हैं हाँ, छत्तीस हजार होते हैं वहां माने छत्तीस अक्षर होते हैं उसको छत्तीस हजार माना है एक को हजार माना होगा तो सौ साल के भी छत्तीस हजार दिन होते हैं एक कहा हुआ तावंती पुरुषायुषा उतने पुरुष की आयु है अन्नाम शास्त्राणी उतने दिन होते हैं इसके जितने बृहति शास्त्र नामक मंत्र में जितने अक्षर होते हैं जितने संख्या में अक्षर छत्तीस हजार होते हैं उसके अक्षर उतने सौ साल को दिनों छत्तीस हजार दिन हो जाते हैं वो त्याग हो जाते हैं ये कहा है माने सौ साल से आगे आयु है ही नहीं शत वर्ष से आगे आयु आयु नहीं कहा वर्ष शतम से आयु कर्मणायु व्याप्तम सौ साल की आयु थी कर्म से पूरा हो गया और आगे कर्म त्याग करके ज्ञानार्जन करने का समय कहाँ रहेगा वर्ष शतम से आयु कर्मणायु व्याप्तम ये कहा कर्म से व्याप्त हो गया आयु तो पूरी हो गई सौ साल की आयु अब आगे आयु है नहीं ज्ञान के लिए इसलिए कर्म असंबंधी आत्मज्ञान के प्रसंग नहीं आता कर्म संबंधी आत्मज्ञान माने गिरस्थाश्रम में ज्ञान होना है कर्म होता है ये पूर्वाधि कह रहा है दर्शित मंत्र मंत्र को दिखाया भाई कुरवन्य कर्माणी इत्यादि दिखाया कुरवन्य कर्माणी जिसमें सतम समय सौ साल उसके आगे आयु है ही नहीं तथा और भी मंत्र है यावत जीवम अग्निहोत्रम दुनिया कोई बोले सौ साल से आगे चला जाएगा तो सौ साल में कर्म को छोड़ करके आगे ज्ञान अर्जन करेगा दूसरे भी श्रुति है वह सौ साल भी नहीं बोलती यावत जीवन जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करे अब तो सौ वर्ष से अधिक भी जिएगा तो अग्निहोत्र करना ही पड़ेगा ये स्थिति है यावत जीवम अग्निहोत्र जुड़िया जुहोती यावत जीवम अग्निहोत्र जुहोती यावत जीवन दर्श प्रभाव में देता जब तक जीवन है तब तक दर्श प्रभाव से याग करते रहना याग करना माने कर्म करना है जब तक जीवन है तब तक कर्म है तो कर्म छोड़ करके ज्ञान अर्जन करने का समय नहीं और ये भी आया उसको तम यज्ञ पात्र ही दहंती उस यजमान को यज्ञ पात्र के साथ जलाते मैंने कर्म करते करते मरना है उसने तम यज्ञ पात्र पात्र ही दहंती उसके मैंने आप हाँ, जला देते हैं कब कैसे जलाते हैं यज्ञ पात्रों के साथ जलाते हैं मैंने कर्म कर रहा था ऐसे ऐसे मंत्र हैं मैंने कर्म छोड़ने का तो अवसर ही नहीं है तो इसलिए कर्म असंबंधी आत्मज्ञान का संभावना नहीं ये पूर्वादि बोल रहा है और इसका उत्तर भाष्यकार दे सकते हैं नहीं दे सकते आगे की बात है अभी पूर्वक से क्रम से चल रहा है तम यज्ञ पात्र तम यजमान उस यजमान को जो कर्म कर रहा है जीवन पर एक करने वाला व्यक्ति को यज्ञ पात्र ही सहत हम यज्ञ पात्र के सहित गलाते हैं ऐसा आया मैंने कर्म छोड़ने का अवसर दिखाता बाकी यदि त्रय श्रुते और दूसरी बात है तीन ऋण को उसको पार किए बिना कहीं जा नहीं सकता आदमी जन्म से ही तीन ऋण लगाओ देव ऋण पितृण ऋषि ऋण तीन ऋण होता है मनुष्य को देव ऋण ऋषि ऋण और पितृण तीनों देव ऋण होगा देवताओं का कर्जा देवतर्पण आदि करना होगा प्रतिदिन करना होगा वो कर्म है ऋण है उसका और ऋषि ऋण है दूसरों ने हमें पढ़ाया है स्वाध्याय कराया है तो हमें भी उसको आगे करना होगा स्वाध्याय करना होगा डिस्प्लिन से मुक्त होना होगा स्वाध्याय करा, कराते रहना पड़ेगा करते रहना कराते रहना पड़ेगा नहीं तो ऋषि चुका नहीं पाएंगे जीवन भर करना पड़ेगा तीसरा है पितृण है पितरों का कर्जा है हमारे लिए उसके लिए जीवन भर सुहा सुधा करना पड़ेगा पितरों के लिए पिंडदान आदि करना पड़ेगा जीवन भर करना पड़ेगा तो ऋण त्रय से मुक्त होने के लिए भी जीवन पर गृहस्थाश्रम में रहना पड़ेगा कर्म करते रहना पड़ेगा स्वाध्याय कर्म करना है हाँ, और पिंडदान देते रहना पितरों को देना है देवताओं को तर्पण करते रहना है तो ये कर्म करते रहना पड़ेगा तो जीवन पर करना है गृहस्थाश्रम में हो सकता है इसलिए संन्यास आश्रम में जाना संभव नहीं है कर्म असंबंधी आत्मज्ञान होना संभव नहीं कर्म त्याग होना संभव नहीं ऐसा बोल रहा है भाई ठीक है देखा तो ईशावास्य परिषद में विद्याम से अविद्याम से स्थित भयम सह अविद्या अमृतम चुर्वा विद्या अमृतम स्मृति का अर्थ विद्या का अर्थ क्या है कहते अविद्या का अर्थ कहते हैं अविद्या शब्द है ना तत्कार्य कर्म उचित इस मंत्र में आया हुआ अविद्या शब्द से अविद्या का कार्य कर्म ईशावास्य परिषद में आया हुआ अविद्या शब्द का अर्थ कर्म है अविद्या का कार्य कर्म को लेना यह कहा और अविद्या माने ज्ञान पूर्वादि के हिसाब से ज्ञान है यद्यपि वहां पर उपासना है वहां फिर भी पूर्वादि ज्ञान को लेगा ननु पूर्वम एवं मंत्रे वर्ष सदस्य कर्मणीय तत्व उत्तर उत्तरोपी तदंतरम संन्यास देता सिद्धांत की से शंका उठाया जाए उसको खिजाने के लिए पूर्वादी को कहा जाए कि भाई पूर्वने भी तो मंत्र है पूर्वने व कर्माएं जिसमें सतम समय आया है सौ साल तक कर्म करके उसके आगे फिर कर्म त्याग करके ज्ञानार्जन करे तो शंका करे सिद्धांत को पूर्वादि खंडन करता है ननु कुर्बन एवं सिद्धांत की शंका है ननु कुर्बन एवं मंत्रे वर्ष सतस्य कर्म नियत तो उत्तर होगी सौ वर्ष तो कर्म व्याप्त है कर्म ही करना पड़ेगा सौ साल तक ऐसे देखा है होने पर भी तदंतर सौ साल के बाद शत वर्ष के बाद संन्यास संन्यास आश्रम हो जाएगा फिर कर्म असंबंधी ज्ञान हो जाएगा ये शंका उठाई सिद्धांत ने उसके उत्तर में बताया न तो वर्ष शतात परम आयु आना सौ वर्ष से अधिक मनुष्यों की आयु नहीं है तो आगे संन्यास ग्रहण करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सके सौ साल से अधिक आयु नहीं ये पूर्वाधिक कहा ये न कर्म परित्याग है ना आत्मानुपासित जैसे कि कर्म का परित्याग करके आत्मा को उपासना लगाए आत्मचिंतन करे आगे संभव नहीं क्यों आयु समाप्त है पूर्वादि ने कहा ठीक है आगे सतायुर्वय पुरुष ये तो श्रुति कहता है श्रुति में कहा सतायुर्वय पुरुष सौ वर्ष की आयु वाला है ये मनुष्य ऐसा आया उसके आगे कोई आयु नहीं है योगी सौ वर्ष तो कर्म ही करना है उसके आगे आयु नहीं है ज्ञानार्जन के लिए ये पूर्वाद कर रहा आगे यहां भी यहां भी कहा है बृहद सहस्राक्ष से वो तो ईशावास्य पर चर्चा की थी भाई अब यहां भी इसी के आरण्यक में जब देखते हैं इसी के आरण्यक में भी यहाँ भी बृहति सहस्त्राक्ष शस्त्र से जो बृहति सहस्त्र नाम के शस्त्र है मानी गीति प्रधान नहीं है जो मंत्र उसको सत्र बोलते हैं गद्य में है जो ये मंत्रों में सप्तृंग सप्तम अक्षराणाम छत्तीस अक्षर है ऐसा मंत्र है कोई छत्तीस अक्षर का है सप्तृंग सप्तम अक्षराणाम सहस्त्राणी ये तुम उसको एक एक को सहस्त्र बोला हजार हजार बोला एक एक अक्षर को बोल दिया हजार हजार ऐसा क्या करें इति पुरुष आयुष अन्ना कहा उतने ही ये मनुष्य का आयु होता है उतने दिन होता है जितने ये हो गए छत्तीस हजार हो गए वो छत्तीस अक्षर को हजार हजार कर छत्तीस हजार हो गए वो अक्षर उतने ही जितने अक्षर वो होते हैं बृहति सहस्र नाम मंत्र मंत्र के अक्षर होते हैं उतना ही इसके आयु है पुरुष के आयु ऐसा कहा उतने दिन है इसके अन्नाम सहस्त्राणी इति उत्तरवाद उतने इसके आयु है ऐसा बताया है उत्तरवाद वर्षस्तम एवं आयु क्या इसलिए सौ साल भी आयु होती है इसकी इसकी ज्यादा आयु नहीं हो सकती सप्तम सप्तम तीन नंबर की टिप्पणी है इसमें बोलते हैं सप्तम सप्तम यदि छांदसी द्वितीय कर्मणी का भय हाँ, ये जो सप्तम सप्त में प्रथमांत होना चाहिए था ये द्वितीय जो कर दी है छांदस प्रयोग है तो छांदसी द्वितीय अथवा कर्म में द्वितीय कर दी ये संभावना ये कहा अच्छा दर्शितम से इत्यादि कहा भाष्य में कहा दर्शितम से तावंती आयुष अनाम शास्त्र जितने वो बृहति शास्त्र नाम के मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर उतने ही दिन हाँ, इस मनुष्य की आयु है ऐसा बताया हुआ है ये ऐतरिन आवेग दो तीन आठ मैंने हम जहां पढ़ने वाले हैं उसे पूर्व बातें हैं द्वितीय अध्याय की बात है हम तो चतुर्थ अध्याय से पढ़ेंगे ऐतरे आवेग में ठीक है मैं आगे भवंती इति अनंतरम इति शब्दों द्रष्टव्य मंत्र में जो भवंती शब्द है तावंती पुरुषा पुरुषायुषो अन्नाम सहस्त्राणी भवंती उसके आगे इति ऊपर से जोड़ देना एक नाम द्रष्टव्य पुरुषायुष से अन्नाम इति भाष्य पाठ साधु वहां जो पुरुषायुष पाठ है भाष्य में तावंती पुरुषायुषो जो भाष्य में पाठ दिया है वह पुरुषायुष्य होना चाहिए अचतुर विचतुर वहां अच प्रत्यय लगे पुरुषायुष होना चाहिए था ये साधु पाठ होता होगा पुरुषायुषो अन्नाम इतु जो समाशांत विधेय अनुतत्वाद पुरुषायुषो अन्नाम जो दिया हुआ है उस मंत्र में वहां समाशांत होकर के अच होना था समाशांत विधि अनित्य है ये ज्ञापन देता है पुरुषायुषो अन्नाम इतु तो समाशांत विधेय अनित्यत्वाद समाशांत विधि अनित्य होने से इति अभिप्राय कथन कथनचित ने इस प्रकार लेना चाहिए कहा कैसे अनित्य होता है चार पांच में कहा चार में कहते हैं समासान अचतुर विचतुर इत्यादि भी था समासान अचतुर विचतुर अप्रत्यय अप्रत्यय होना था तो होना था वो नहीं हुआ ये लो पांच में कहा अनित्यत्व अनित्यत्व कैसे होता है समासांत विधि कहते हैं अत्र ही अंशादिगणे राजन शब्द पाठो ज्ञापक समासांत कार्य अनित्य होता है इसमें ज्ञापक है अंशवादिगण में राजन शब्द का पाठ यह अंशवादिगण राजन शब्द पाठ हो ज्ञापक तथा ही प्रत्येक अंशवादय तत्पुरुष है ऐसा शब्द है प्रति से परे अंशवादी होंगे तत्पुरुष में वो समासांत कार्य होगा अज प्रत्यय होगा तत् प्रत्यय होगा बोलेगा इसी आने ना अर्थम या अंतोदात्त करने के लिए प्रति उपसर्ग से परे अंशु आदि शब्द समासांत क्या होगा अंतोदात्त होगा वो समासांत सूत्र से ही अंतोदात्त हो जाता है समासांत जो होने पर अंतोदात्त सूत्र होता है फिर इसको ये प्रत्येक अंशवादेश तत्पुरुष ये अंतोदात्त किया हुआ है इति अंतोदात्तार्थम एक राजन शब्द पाठ है माने अंतोदात्त करने के अंशवादिगण में राजन शब्द पाठ है किंतु राजन शब्द स्वतः ही हो जाता था कहते हैं सच अयम समासांत विजय अनित्व सदी एवं सफल हो ये क्या होगा राजन शब्द को वहां पढ़ना अंशवादिगण में पढ़ना समासांत विधि अनित्य होने पर ही सफल होता है नहीं तो टचेव अंतोदात राजा सखी पर टच से टच हो जाता तो टच भी तो समासांत है समासांत होने से स्वतः ही अनुदात हो जाता था फिर अंशवादिगण में राजन शब्दों को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी अनुदात करने के लिए अनुदात तो स्वतः ही प्राप्त है उसको यही अनित्य है तदर्थम कृतस्य कोई अनुदात बनाने के लिए किया गया जो अंशाधिकरण में राजन शब्द पाठ से भैया पत्य टच टच करने से हो जाता तो वो भी समासांत है फिर अंशवादी में दिया तो ये व्यर्थ होता हुआ ये उदाहरण देता है कि समासांत कार्य अनित्य होता है टच होते होते विश्वास नहीं हुआ इसलिए प्रत्येक अंशादय करके फिर राजन शब्द को आप पढ़ करके अनुदात करना पड़ा देखा प्रतिराजे उदाहरण राजम राजम राजानम राजानम प्रति प्रतिराजम अब विवाह समास होगा ये दिखाना होगा ये कहा ठीक है कहते हैं आगे पुरुषायुषम चेत वर्ष शताधिकम नास्ती तरी तन्मध्य व कर्म संन्यास सिद्धांत कहते भाई पुरुष के आयु सौ साल से अधिक नहीं है यदि शतायु पुरुष कहा है और तावंती अन्ना पुरुषायु अन्नाम सहस्त्राणी भवंती आया है जितने बृहति सहस्त्र नाम के मंत्र में जितने अक्षर हैं छत्तीस हजार अक्षर हैं उतने दिन पुरुष के मनुष्य की आयु होते हैं छत्तीस हजार सौ साल सौ वर्ष होता है छत्तीस हजार दिन का सौ वर्ष होता है तो उतना ही कहा है तो पुरुषायुषम चेत वर्षस्वाधिकम नास्ती इस मनुष्य का आयु यदि सौ वर्ष से अधिक नहीं है सिद्धांत कहे कि तभी तन मध्य कर्म संन्यास फिर बीच में कर्म छोड़ करके ज्ञानार्जन करेगा सौ साल के बीच में करेगा तो पूर्वादि बोलता है वर्ष शतम कर्म आयु व्याप्तम क्यों कुरबन कर्माणी जिसने स्वतम समा से कहा है सौ साल तो कर्म करते ही रहना है और आगे कोई जगह नहीं है और बीच में छोड़ नहीं सकता है कर्म को ये स्थिति है तत्र महा उसे प्रमाण दिखाया पूर्वादि कहता है कर्षि सत मंत्र पूर्व ने कर्माणी सौ वर्ष कर्म करने के लिए कर्म मंत्र ने कहा सिद्धांत कहे फिर जी उसको पूर्व पक्ष के विरुद्ध में बोले ननु पुराणेश शताधिक आयुषो दशरथादि श्रुतत्व पुराणों में सुनाई पड़ता है सौ साल से अधिक आयु दशरथ आदि की आयु ज्यादा थे सौ साल से तो ऐसे आयु वाले सौ साल तक कर्म करेंगे उसके आगे ज्ञानार्जन कर्म असंबंधी ज्ञान मोक्ष के लिए प्राप्त करेंगे हो जाएगा सिद्धांत बोले मानो पुराणेश शताधिक पुरुष आयुषो पुरुष दशरथ है स्मृतत्व दशरथ आदि की आयु सुनाई पड़ा है सौ साल से अधिक पुराणों में सुनाई पड़ा है इसलिए शतवर्ष अनंतरम कर्म संन्यास सौ का साल पूरा करके कर्म करके उसके आगे कर्म का त्याग करेगा यह शंका सिद्धांत की ओर से करे तो पूर्वादि बोलता है सतायु श्रुति विरोध है ना यदि ऐसा होने लग जाए तो सता सतायु वय पुरुष स्तुति का विरोध हो जाएगा आगे जीने के लिए ज्यादा आयु होगी तो तो सतायु श्रुति विरोध है ना तस्य अर्थवादत्व तो दशरथ आदि के आयु पुराणों में जो बताया है सौ साल से तो अर्थवाद वाक्य है वो प्रशंसा के लिए सौ साल से ज्यादा आयु होती नहीं है वो प्रशंसा है अर्थवाद है क्यों श्रुति में बोला है सतायु रे पुरुष संसार से अतिरिक्त आयु हो ही नहीं सकती वो जो पुराण में कहा अर्थवाद वाक्य है वो उसकी प्रशंसा के लिए है तस्य वो सता संसार से अधिक जो सुनाई पड़ता है पुराण में वाक्य से आयु पड़े वास्तवाद है तथा अंगीकार चलो मान भी लेते हैं तब भी जीवन काल से सर्वस्यापी कर्मणा व्याप्त अथवा सौ साल से अधिक जिसकी आयु होती भी हो तब भी क्या यावत जीवित अरुणतम होती जब तक जीवन है तब तक चाहे हजार साल की आयु हो अग्निहोत्र करना ही पड़ेगा आयु तो कर्म से व्याप्त है पूरा ये पूर्वाधिकार है कर्मणा व्याप्त सुनते नए ये भी होने लगा तथा यावत जीवम इत्यादि का यावत जीवम अवधोत्र ज्योति यावत जीवम दर्श पूर्णमाश्रम यजेता इत्यादि वाक्य है जब तक जीवन है तब तक करना है चाहे सौ साल से अधिक आयु भी हो तो अग्निहोत्रादि कर्म करना ही है दर्श आदि याद करना ही है कर्म करते हुए आयु समाप्त करना होता है ठीक है जीर्णोदा विरवेद यावत जीवादि नाम प्रतिबंध कारस्थ विषयत्व कर्तव्य जीर्णोवा विरवे इति बदनाथ जरा अनंतरम संन्यास श्रुति में कहीं आया है सिद्धांति बोलते हैं भाई जीर्णोवा विरमित तो आया है यदि जीर्ण शीर्ण हो जाए तो कर्म त्याग कर विराम ले ले कर्म से ऐसा वाक्य आया कर्म कर नहीं सकता आप जीर्णोवा विरमित जो जीर्ण होने पर विराम ले ले कर्म से विराम ले ऐसा वाक्य है यदि वचनात् जरा अनंतरम जो वृद्ध अवस्था आ गई तब संन्यास संन्यास हो जाएगा फिर कर्म त्याग पूर्वक आत्मज्ञान हो जाएगा उसको ये शंका उठाए सिद्धांत उठाए तो नहीं वो जीर्ण होने पर भी कर्म में त्याग नहीं सकता क्यों तम यज्ञ पात्र दहन भी ऐसा बात आया है उसको यज्ञ पात्र के साथ ही जलाते हैं पहले यज्ञ पात्र छोड़ नहीं सकता वो कर्म त्याग माने यज्ञ पात्र छोड़ना है छोड़ नहीं सकता तम यज्ञ पात्र ही दहन भी ऐसा श्रुति है ये कहा विरवेद विरवेद कर्म भी विराम किससे विराम करना कर्म से विराम ले है जीर्णो विरवे ऐसा आया वो भी करने सकता क्यों तम एक पात्र जहां की श्रुति आए ये पूर्वाज ने कहा ठीक है सिद्धांत फिर शंका उठाए नौ यावत वाक्य नाम प्रतिपन्न गादस्थ विषयत्व वक्तव्य जो यावत जीवित अगम जुहयात आदि वाक्य है जिसको गृहस्थाश्रम प्राप्त हो गया उसके लिए मानना पड़ेगा ब्रह्मचारी तो अभी मान गृहस्थाश्रम में प्राप्त है अग्निहोत्र करता नहीं उसी काल में संन्यास लेगा तो ब्रह्मचर्य अवस्था में संन्यास ले तो तब तो फिर कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान हो जाएगा ना इस सिद्धांत शंका करते हैं ये शंका सिद्धांत जोर से है नौ जीवादि वाक्य जो यावत जीवन जीवन अग्निहोत्र जुहियात आदि वाक्य है इन वाक्यों का प्रतिपन्न कार्यस्थ विषय जो प्राप्त हो गया कार्यस्थ असम उसी को विषय करना चाहिए बोलना चाहिए जो अग्निहोत्र हवन वही करेगा गृहस्थाश्रम ही करेगा इसलिए जब गृहस्थाश्रम में जाए तब जब तक जीवन है अग्निहोत्र करे अब ये होगा गृहस्थाश्रम में जाए नहीं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में संन्यास ग्रहण कर ले तब तो अकर्म संबंधी आत्मज्ञान हो जाएगा ये सिद्धांत की ओर से शंका है अन्यथा ब्रह्मचारी ने भी तद विधि प्रसंग यदि नहीं मानेंगे गृहस्थाश्रमी को नहीं लेंगे अग्निहोत्र के संबंध तो ब्रह्मचारी को भी अग्निहोत्र का विधान का प्रसंग आ जाएगा इसलिए यावत जीवादि श्रुति गृहस्थाश्रमी के लिए होगा प्रसंग ततः पूर्व कर्म त्याग से हाँ, गृहस्थ आश्रम के पहले कर्म त्याग कर देगा ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसा कहे तो पूर्वादी बोलता है कि नहीं ब्रह्मचारी कर्म त्याग नहीं करता तीन ऋण का श्रवण है देवऋण पितृण ऋषि ऋण वो कैसे कर्म त्याग कर पाएगा उसको तो अभी पढ़ना है आगे यज्ञादि करना है हाँ, देव ऋण चुकाना है स्वाध्याय ऋषि ऋण चुकाना है पितृण पितरों का तर्पण करना है सब काम करना है वो कर्म त्याग नहीं कर सकता ऋण त्रय श्रुतेश्च इत्यादि है अच्छा क्योंकि मंत्र आया है जायमान हो गई ब्राह्मण त्रिवीर ऋणवान जाए उत्पन्न होते हुए ये मनुष्य तीन ऋणों से युक्त हो जाता है जिसमें देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण लगा हुआ होता है इसको टिप्पणी दो नंबर की त्रिवीर ऋषियादि ऋण ही ऋषि ऋण पितृण देव ऋण तीन ऋण होता है ऋणानी त्रीण अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेश सहित ऐसा आया है संन्यास आश्रम तब जाए कब मोक्ष में निवेश करे मन को मैंने संन्यास आ जाए तीन ऋणों को चुका करेंगे तीन ऋण पहले समाप्त करें जो देव ऋण पितृ ऋण जिस ऋण लगा है उसे समाप्त करके ये काम करें ऐसा आ गया है इतनी स्मृति स्मृति है तथा तद अपाकरणार्थम इसलिए उस ऋणों को चुकाने के लिए तेना भी माने जो ब्रह्मचारी नाभि जो ब्रह्मचारी है गृहस्थ आश्रम प्राप्त होने के पूर्व अवस्था में है उस ब्रह्मचारी के द्वारा भी गारहस्थ में प्रतिपद्यव्यम उस ऋण को चुकाने गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा उसको वहीं जाकर के कर सकता है वो क्योंकि पितृ ऋण चुकाने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा ये कहा न संन्यास है करते जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में बैठ करके संन्यास भी ग्रहण नहीं कर सकता इसलिए कर्म असंबंधी आत्मज्ञान मोक्ष का साधन नहीं हो सकता कर्म संबंधी आत्मज्ञान होता है कर्म संबंधी अर्थ हो गया गृहस्थ आश्रम में होगा इसलिए संन्यास आश्रम नहीं है ये सिद्ध हो जाता है ये पूर्वाज ने कहा तेना भी तीन की टिप्पणी कहा ना भी जो ब्रह्मचारी है उसको भी गृहस्थाश्रम में जाना ही पड़ेगा क्यों तीन ऋण को चुकाना है देव ऋण पितृ ऋषि लगा हुआ है ये कहा समय हो गया है आगे फिर अभी पूर्व पक्ष और चलेगा अभी सारे ध्यान में रखना सिद्धांति क्या बोलेंगे क्या उत्तर देंगे बाद में होगा अभी पूर्व पक्ष चल रहा है ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वासी प्रतिष्ठित आविरावीदस्यमाणीस्त श्रुतम मे प्रहासी रमेनादीतेनाहोरात्रां संभवामि ऋतं भविष्यामि सत्यम भविष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति